आसन सफल आसन के भगवान वाली अगला हे देवियो तुम्हारी दोस्त तमाम देखो कैसे यहाँ इस पर यहाँ कदम पतंग रहे देखो कोई इस डाली को तो इस डाली को तो इस डाली को अरे यहां से आगे ले जाए तो अत्र आवत्य क्या एक ही कहा सब मिलकर के आ जाओ और लज्जा के कारण निकलती नहीं ठंडा जल कंठ कंठ तक उसमें घुसी हुई है कृष्ण अन्यायम न होता हमारे साथ अनुति मत कर हम तुम्हें जानती हूं तुम शाम से नंद नंदन हो नंद पुत्र हो वस्त्राणी दे हमारे वस्त्र हमको दे हम काट रहे हैं तो जिन्हें कहा हे श्याम सुंदर हम तो दास किया हम तुम्हारी दासी है दे किसी ने कहा हम तुम्हारी आज्ञा का पालन के हमारे वस्त्र दे यहां किसी ने ये चार प्रकार की कन्या है समझी ये चारा जाति जीती ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सूत्र शब्दों से मालूम हो तो देखो बात से मालूम हो शब्दों से मालूम हो नंद पुत्रम तो हम जान अरे हम तुमको जानते हैं वस्त्राएं दे हमारे कपड़े दे तो वो एक छत्री कन्या और दयम की दासी अरे हम तुम्हारी दासी बोले सूचना की कन्या हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे कि तो बोले देश कन्या और वस्त्राणी थे बोले ब्राह्मणों की उनको इन शब्दों से मालूम क्या कहते हे बदलाव वीर ने तुम्हें दास्य अगर तुम हमारी दासी हो हमारी आज्ञा का पालन करती हो तो हमारी मेरी आज्ञा है तो तुम आकर के तुम करके मिले भगवान उनके जो देहाभ्यास में दबा हुआ है ना कि देह को अपना आत्मा मान लिया देहा देहाभ्यास को दूर करना चाह रहे हैं और ये समझते हैं कि अगर ये जल में जल से इनको लज्जा नहीं जल में तो ये जमीन स्नान कर रहे हैं जल से तो इनको संकोच नहीं है और हम तो जल के भी अंतरात्मा है उनसे संकोच ठीक है तो भगवान को उनका देहाभ्यास निवृत्त करने के लिए उसको बताया जैसे एक एक छोटी सी लड़की अपने बाबा की गोद में पहुंच जाती भगवान तो पुराण पुरुष हैं इसके सामने हमको क्या लगता और प्रारब्ध वस्त्राणी लेनी सीते में कम बिता सकते तब तो भगवान ने देने कहा सब विचार निकल करके और भगवान ने कह रहे तुमने जल में मंगा होकर के स्नान किया अब से अग्नि देवास थी हाँ। तो इसलिए नाप मुक्त पुरुष क्रिया इसलिए जल में शक्ति विशाल नहीं करना चाहिए थूकना नहीं चाहिए और मग्न होकर के स्नान नहीं करना इसलिए तुम्हारी व्रत में तुम कमी न करो प्रणाम आकर के पैर में आकर के भगवान की आज्ञा करके सूर्य को प्रणाम न करके भगवान श्री कृष्ण को शरण प्रणाम किया बोलिए श्री कृष्ण भगवान वस्त्र पहन करके भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी भगवान जी बोले तुम तुम्हारे संकल्प को हम जानते हैं आगामी आने वाली राशियों में तुम रात में हमारे साथ सम्मिलित हो कोई कोई ब्रजवासी तो कहते हैं कि उन सब लड़कियों का विवाह तो हो चुका था भगवान की कैसे जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और दशरों के रूप में हुए गए थे तो उस समय किसी ज्योतिषी ने ये कोई इसमें कथा नहीं है ब्रह्मदासी कथा भी तो समझिए वो कहते हैं कि किसी ज्योतिषी ने कहा जब श्री कृष्ण बन गए थे एक वर्ष के लिए सब लड़के जितने ब्रज के लड़के थे सब कृष्ण की का रूप था भगवान श्री कृष्ण जो चीजों ने कहा था बारह वर्ष तक जो है ऐसा प्रारूप ब्याह का जो मुहूर्त नहीं आगे जिसे ब्याह करने वो भी कर ले तो सब है उन लड़कों के साथ ब्याह कर दिए थे और उस समय तो श्री कृष्ण ही थे सब उन बच्चों को तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जितनी गोपियां थी सब सुखियां थी भगवान की सही दिन का ब्याह हुआ है उनसे तो दूसरे की बेकार के थे असली पति तो भगवान ही थे ब्याह उनसे हुआ भगवान ने कहा आगे आगामी आने वाली जो जाती है तुम तुम्हारे पास रास में सम्मिलित होगी ऐसा भगवान ने उनसे कहा भगवान को प्रणाम करके वो गोप में अपने अपने घर को बोले वो कन्याएं थी आगे की कथा था बुजुर्ग के लाल काल गुरु राम अवतार में काल का पहले आ गई नारायण का और यहाँ कृष्ण अवतार में सबसे पहले जी नंबर आ गया तो भगवान ने प्रबंध कर लिया वो आई अनंत मारो अनंत मंत्रकम यथोरम सुप्त मरुद्ध अब आकर के साधारण बालक समझ करके और अपने श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया सुखदेव जी कह रहे मानव कोई सोए हुए सर को रस्सी पकड़ कर समझ करके कोई उठा ले इस तरह से अपने गोद में श्री कृष्ण को ले लिया साधारण बालक है तो उसके मानने वाला अंतक है अनंतम अंतकम और अंकम आरोप है अनंत को अंत में लीला तो उसका हो भूल जाएगा दो तरह का भ्रम होता है तो एक रस्सी में कभी हम सांप समझ लेते और रस्सी को सांप समझ लिया तो डर लग जाता है और क्या हम लोग और किसी ने सांप को रस्सी समझ ली और हमारा सांप और उन्होंने रस्सी समझ लिया तो पकड़ के ठहर जाएगा पर जो पकड़ा तो पाती मर गया तो सर्वमय रज्जु का धर्म उसको होता है तो जिसका अंत राम राम सबके होंगे तो बोले उसका जिसको जो है सर्वमय रस्सी का धर्म हुआ है यथो रंग सुप्त मनुष्य व्यक्ति थी और जो है यशोदा और रोहिणी वहां खड़ी थी तो उन्होंने देखती हुई इतना हमको साहस नहीं हुआ अरे तू कौन है और हमारे बच्चे को क्यों बुलाने मिले बीच चांद द्वारा उस पर बरस क्रियम तक प्रभया दर्शक उन्होंने समझाया तो साक्षात कोई देवी है हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे रही है ये तो साक्षात पार्वती है निष्पीट माना जीवन में और उसके नेत्र बाहर निकल आए हाथ पैर फैल गए सारे शरीर में पसीना हो गया और एकदम वहां से उछली और गांव के बाहर आकर के दी भगवान श्री कृष्ण उसका स्तन पकड़े हुए उसके साथ गांव के बाहर जाकर के उसके ऊपर भी छाती का वो बड़ी का राक्षसी कहते हो बहुत लंबा चौड़ा बगीचा था उसका कंस का वो सारे वृक्ष चकना चूर हो गए कहीं उसका हाथ कहीं पैर कहीं कुछ कोई कहता हाथ वहां गिरा आता है जमीन तो उसको हाथ के ईशा महापुर गंड शैलस्थ नंबर गंडशैलस्तनम प्रकीर्णामूर्तियम वो भयंकर रूप उसका प्रकट हो गया उसको देख करके सब कर दे गए और ये क्या गोपियां जो दौड़ करके गई और श्री कृष्ण को उसकी छाती पे से उठा लाई और फिर भगवान श्री कृष्ण को गोमूर्ति से स्नान कराया गोमूत्र में स्नान है एक गड़ा में गौ का गोमूत्र लड़के लाया श्री कृष्ण को स्नान कराया फिर साधुओं की जहां रस थी जहां गौशाला थी वहां फूल लाकर के तो उनको शरीर में लगाई और गो का दो के गोबर लेकर के उनकी रक्षा की अभ्याजों कर जान तो यज्ञोचिता प्रथतम जटदम धाराश्य पृथ्वी शरस्त कम विष्णु तम विष्णुर्भुजम मुरुत्तम ईश्वर ख्याल से अपने अपने शरीर को जो है उन्होंने इस तरह से भगवान के सारे अंगों में रक्षा करने को नियुक्त कर दिया और रक्षा करके और मैया यशोदा को दे दिया यशोदा मैया ने उसे दूध पिला करके श्री कृष्ण को पन्ने पर सुला दिया और उसका उतना का इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर अब कोई दो चार आदमी तो उठा नहीं सकते तब दो लोग अपने अपने घरों से पिलावा लाए कोई तो उसके उंगली काट रहा है वो पैर काट रहा है कोई तो ये काट अलग अलग काट काट के काट काट करके उसकी कितनी चिताएं अलग अलग लगाई एक चिता में रोज चलेगी इतनी भयंकर दही से मानस चार देहश्चार चार सब और चिताएं जल रही थी और उनमें से समय से सुगंध ही आ रही थी बदबू नहीं क्यों भगवान का स्पर्श होने से सारे पाप उसके नष्ट हो गए उसके दिव्य गंध आ नंद बाबा ने कहा ये क्या ये सुगंधी कहां से आ गई आगे बढ़े तो गोकुल के बाबा चिपट गई बाबा बड़ी भयंकर राक्षसी आई बाबा को उठा कर ले गई फिर नंद बाबा ने आकर नंदा सुपुत्र फिर चार नंद बाबा आए भगवान श्री कृष्ण कलने पर थे उन्होंने उठाया उनका मस्तक सुना और बड़े आनंदित हुए और ये श्री कृष्ण और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप करवट ले लिया वो तत्व मैया शोधा ने वो सब मनाया कि आज लारा इतनी सामर्थ आ गई कि इसने अपने आप करवट ले लिया तो स्त्रियां आगे गाना बजाना हुआ और भगवान श्री कृष्ण मैया का दूध पीने के लिए रोने लगे रुदन स्नार्थी शरणागक्ष पर वो तो माता का दूध पीने के लिए रोने रो रहे थे और अपने पैर पटकने एक छकड़े के नीचे सुना सुलाया था पैर का मुठा लगने से छकड़ा हुए थे और सब लोग दौड़े आए नहीं क्या हो गया किसी बच्चे ने कहा श्री कृष्ण ने कहा पैर का अंगूठा लगने से छकड़ा हो गया है बोले गोपाल बाढ़ भाषक नृत्य तो उनको ये श्रद्धा नहीं हुई और चौकी को बैठ मेरा अभ्यास नहीं है कुर्सी वाले कुर्सी तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया एक बार एक बार मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेकर के लालन पालन कर रही थी और अकस्मात भगवान ने अपने शरीर में बोझा बढ़ा दिया तो पहले तो सहती रही हो पर गर्मान शिशोर भी न सोहे वे कूट मत भगवान इतने भारी हो गए तो यशोदा जी अब उनको संभाल नहीं सकी तो यशोदा जी ने विचार किया कि मैं क्यों भारी हो गया था झूमन निधार कमल क्यों ये तो पृथ्वी तो सबकी माता है सब हम इसी की गोद में रहते हैं चलो लाला को इसी की गोद में ले दू तो पृथ्वी की गोद में ही मिल और भगवान का ध्यान करने लगी कि आज लाला के शरीर में इतना वजन क्यों बढ़ गया है प्रणाम वक्त प्रणावत नाम का राक्षस डबंडर के रूप में आप बैठा थे कंस का भेजा हुआ आए क्या माफी आए सारा गोकुल धूल से छाटा और जहां श्री कृष्ण बैठे थे तो उसने श्री कृष्ण को उठा करके मुकर को ले गया और मैया यशोदा दौड़ के आई जहां श्री कृष्ण को रखा था वहां तो मिले नहीं तब तो मैया बड़ी दुखी हुई रोने लगी गोपियां वो भी सब रो रही बड़ी दुखी हुई दुर्गतता मुख वत्सता यथा गऊ अपने बच्चे के न रहने से बहुत जैसे दुखी होती है ऐसे सब गोपियां ये दुखी हुई यहां वक्त जब भगवान को ऊपर ले गया जब ठाकुर को ले गया उस समय तो भगवान हल्के हो गए और वहां भी वजन बढ़ा दिए हैं तो चरणारता शांत वाक्या रूप धरोहरण कृष्णम नरोगतो तुम ना सको दूर भाग वासना भाव बना दिया शरीर में क्या अब वो भी नहीं कर सका तो तमसमान मनुमा उसने समझा कि मैं किसी बालक को उठा के लाया हूं का तो पत्थर की शिला ले आया तो ये समझ में तमसमान मनुमा महात्मा लोग कहते हैं कि देखो भगवान उसकी गोद में है और भगवान को पत्थर मांगना है जो द्वैत होता है असुर होता है नास्तिक होता है उसके गोद में भी भगवान आएगा तो पत्थर ही सुंदर आस्तिक तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं और नास्तिक भगवान को भी पत्थर मानते हैं तमस मान माना भगवान ने उसका गला पकड़ लिया गले गृहित तो उत्सृष्ट ना सको भूल तमाम अद्भुत आनंद भगवान ने गला पकड़ लिया उसकी ना आंखें बाहर निकल आए विद्वत लोचन और भयंकर शब्द करता हुआ वो नीचे गिरा बोलिए श्री कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वसुदेव जी ने कहा गर्भाचार्य से गुरु जी वहां जाकर के बच्चों को का संस्कार कराओ नहीं बेटा बैठ गर्गा प्रभुर के राजन यदुनाम सिंहापदा भजन जगानंद से वसुदेव वसुदेता वो वसुदेव जी की प्रेरणा से

बोले श्री कृष्ण तो गंगाचारी से प्रार्थना है उस दिन हमारा गोकुल में हमारे जो बात करते हैं उनका नामकरण संस्कार करके हो तो गर्भाचारी उनका नाम पर संस्कार करने के लिए तंदुष्टा परम प्रीत प्रत्युत्या प्रधानमंत्री नंद बाबा ने देखा गंगाचारी को तो बड़े प्रसन्न हो गए हाथ जोड़ करके रोकते खड़े हो गए और बिल्कुल भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया सूर्य प्रकार क्षण आप सरकार जब कर चुके तो बड़े प्रेम से नंद बाबा बोले ब्रह्मांड पूर्ण से करना आपका तो पूर्ण है आत्मा तो ये हम आपकी क्या सेवा करें मातृजनम नाम ग्रहणाम से सदाम निश्चेषा भगवान कल्पते नंद का प्रति नंद बाबा कहते हैं महाराज आप जैसे महापुरुषों का जो विचरण होता है वो हम लोगों के कल्याण के लिए होता है तो हम भी ब्रह्म श्रेष्ठ गर्गाचार्य कहने लगे कि आप तो देवता में श्रेष्ठ है हमारे बच्चों को संस्कार बाढ़ो रंगे ना गर्गाचार्य बोले कि तुम अपने आचार्य से कराओ अपने गुरु से कराओ तो जन्मना रामो गुरु वो कहने लगे नंद बाबा महाराज ब्राह्मण को जन्म से सबका गुरु है आप भी हमारे गुरु हैं आप ही बच्चों का संस्कार करते हम बच्चों को का नाम का संस्कार करेंगे तो कर्म देवी की का प्रदर्शन तो देगा बोले महाराज आप ज्यादा बच्चन अच्छा नहीं मनाएंगे कृपा करके राजा भाई गए हैं तो केवल नाम आप उनका बताए उनकी अच्छा तो जहां गौया में चली जाती है तब दिन में बाहर गौशाला गौशाला हमारे टुकड़ की खाना पड़ती वहां जाकर एक चटाई बिछा दी एक चौकी डाल दी मैया यशोदा रोहिणी दोनों दोनों बच्चों को लेकर के पहुंच गई और गंगाचारी ने केवल स्वस्थ की बात करके और उनका नाम और संस्कार करने लगे अयम जो तो, तो रमण साल में चाहते थे उनको उनकी परीक्षा तो बड़े बड़े के बड़े जोशी हैं और रोहिणी ने तो श्री कृष्ण को अपनी गोद ले लिया यशोदा जी ने जो है बलदाव जी को अपनी गोद ले लिया और फिर कई महाराज रहे बच्चों के नाम का संस्कार कर दो तो जब यशोदा जी पहुंची बलदाव जी को लेकर के तो वर्गाचार्य बोले अरम योगी देखो लगेगा ही कम से अपनी योग में लगता है ये योगी का अलग है जब तुलसीदार जब से रहेगी महाराज जैसे सुने थे तो वैसे योग थी इन्होंने सारा कारण है कहते इनका नाम होगा राम बलराम का धर्म से इनका नाम होगा कर्ण और इनको मिला के बलराम राम प्रदोष क्षमता ये लेकिन काम आ भगवान संतुष्ट को जो देखा तो भगवान संतुष्ट को करते थे उनका हृदय जरूर हो गया और उनके पहले आपकी रेखाएं देखी और गर्गाचार्य चाहते थे कि मैं किसी तरह से इसके चरणाचार्य को स्पर्श कर से अगर जैसे ही मैं इस बच्चे के चरणों में अपना सिर रख दूंगी तो सब लोग चलेंगे कि बाबा बाहर हो जाए तो उन्होंने क्रम से पहले मस्तक की रेखा रख के बताऊंगे हाथ की रेखा रख के और फिर कम से फिर उनके चरणों का स्पर्श करता है के यशोदा उसके चरणों में कमल का चिन्ह है भज्यता से मिले ये से मिले हाँ ये तो थोड़ा बालक नारायण के समान है नारायण के समान नहीं ये तुम्हारी सबको रक्षा करने वाला होगा हाँ। अच्छी तरह से इसकी देख रेख रखो ऐसे नाम का समझो उसका नाम होगा कृष्ण हमें भी सर्व करता हूँ एक नाम इसका पड़ा वसुदेव से पहले वसुदेव जी बिना पैदा हुआ है इसलिए इसका नाम है वसुदेव वासुदेव नंद बाबा सोचे वसुदेव के यहाँ पहले जन्म में पैदा हुआ है और उसी जन्म की बात करें और बहुत संत नामान उनके तो अनेक नाम है जैसा है कल कर्म करेंगे वैसे नाम नाम रखेंगे दोनों बच्चे और घुटनों के बल चलने लगे घर के बाहर भी निकल जाते वहां आने मिल जाता कभी बड़े बड़े वृक्षक बैठे रहते हैं एक ने घर सिंह पकड़ लिया एक घर सिंह पकड़ लिया और बैल उठ के खड़ा हुआ अब दोनों लटकने गया तो अब उनको उनकी देख रेख रखने में हर समय उनका चित्र चंचल रहता है माता में में सुन्दरनिदष्टसुजलत्रियकन्तकेभ्यः क्रीडापरार्थसुरं ससुरं सेतुम् गव्यानि तत्प्रियकर्णतज्जनन्योषीकार्तापुरम् मनसोलवस्थान सूर्याय पशुओं से बचाती है कभी अग्नि से बचाती है कभी तापदाय पशुओं से कभी करवा से कभी allows out. ब्राह्मण को जब होम होता था ना रोज तो ब्राह्मण लोग होम करके जब चले जाते पहले तो हम गाना देखते रहते जब वो लोग चले जाते तो फिर मकान की लड़की लेकर के वह हमला करते स्वाहा जैसे वो देखते रहते सुनते रहते अपने आप और पानी बड़ी जल जलती तो उनको दौड़ के बताती अरे जब जाओगे तुम कहा सुन लिया कि दस प्लस कल गंगा के भवन में असली तलवा कहते हैं तुम मैया जिला ने कहा कि बहुत चंचल है तो वो बंद कर दिया एक कमरे में बंद कर दिया और अपना घर का काम धंधा करोगे और ये चलोगे कमरे में तो बने हैं तो जब दोनों भाई बंद कर दिए तो उन्होंने सोचा वो घर जाके तो वहां दो तलवार गए कुर्सी पर चढ़ करके तलवार को निकाल करके और दोनों आपस में और देखा रोहिणी मिलवा में के तो मिलवा से बंद मत मत करा रहे हैं तो अपना हाथ काट लेंगे उसे काट लेंगे तलवार से बचा बचाती स्वयं में दस ट्रस कई ऐसी की जगह अभी पास हो मैया यशोदा अपना साथ बतलवा भयंकर और बलदार जी ने पकड़ेगा खींच लिया उसे अब बलदार जी को सांप से क्या है सारे शरीर में सांप लपट गया अब मैया है डरती में आगे छोड़ के छोड़ वाहन के घर में तालाब था कभी तालाब में पहुंच जाए तो जल से तो बचाती हैं कभी तलवार से बचाती हुई ऐसे मैया यशोदा कहती है पहले जन्म का क्या की मछली है क्या पहले जन्म का फसला है कि जन्म को दिया भगवान सोचते हैं हमारा मस्ता हुआ है कक्षा नहीं